विश्वम् कृष्णम ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत विमृत्यु अन्योप्येवं जो विदध्यात्मेव पृष्ठ मात्रा दस दस बराबर का है मात्र ये प्रत्यय जो है ये परिमाण अर्थ में होता है विपत्ति मात्र हस्त मात्र अरथ मात्र अंगुष्ठ ही है मात्रा माने परिमाण जिसका ऐसा वो कौन है जड़ है अंगूठे बराबर का तो जड़ होता है बोले नहीं पुरुष है चेतन है का कोई दूसरा चेतन होगा कोई अंतर्जामी चेतन को भी पुरुष कहते हैं बोले नहीं अंतरात्मा वो अपना स्व ही है अपना आत्मा ही है तो अंगूठे अंगूठे के बराबर है और पुरुष चैतन्य है और अंतरात्मा माने अपना आपा है कहा रहता है तो जितने भी जन्मशील पदार्थ हैं जन्म वाले पदार्थ हैं उन सबके हृदय में वही सन्निविष्ट रहता है तम स्वात शरीरात प्रवृत उसका इस शरीर से विवेक करना चाहिए पृथककरण करना चाहिए जैसे मूज से सीख को अलग कर लेते हैं ये मूज जिससे डलिया गांव में बनाते हैं एक प्रकार की घास होती है सर पर उसमें से मूज को अलग कर दिया और भीतर से सरकंडा निकल आया सरपत और सरकंडा मुंज मुंज वन में आग लग गई थी जब भगवान श्री कृष्ण ने गायों को बचाया था मुंज वन में अरे जल्दी न निकले तो क्या करें बोले धैर्य देना बाजी नहीं करना चाहिए शनै शनै रूप रमेश धैर्य से काम लेना चाहिए और अज्ञात अनादिकाल से अपने को देह होने का देह में होने का अभ्यास पड़ा हुआ है तो वो तत्काल विविक्त नहीं होता है उसका विवेक नहीं होता है इसलिए उसका विवेक करना चाहिए धैर्य के साथ घबराना नहीं अब एक बात आपको सुना है जैसे आकाश है तो घड़े के भीतर एक पोल दिखाई पड़ती है अगर वो पोल न रहे तो पानी डालो तो घड़े में कहाँ भरेगा घड़े में एक पोल रहती है एक अवकाश रहता है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वो एक फुट ऊंच लंबा एक फुट चौड़ा गोल गोल घड़े के भीतर है तो उसको कहेंगे कि ये एक फुट का आकाश है अब समझो ये जो शरीर है ना साढ़े तीन हाथ तो इसके भीतर जो चैतन्य है वो साढ़े तीन हाथ का चैतन्य है तो वो घड़े में आकाश एक फुट का क्यों मालूम पड़ता है वो घड़े की उपाधि से घड़े के सान्निध्य से गोलाई है घड़े में घेरा है घड़े में एक फुट का घेरा है घड़े के साथ संबद्ध आकाश के साथ नहीं तो जब विवेक करेंगे तो आकाश तो घड़ा बनने के पहले भी था घड़ा टूटने के बाद भी है घड़े के बाहर भी है घड़े के भीतर भी है और घड़ा भी मिट्टी बनने के पहले पानी और पानी के पहले तेज और तेज के पहले वायु और वायु के पहले आकाश ही था तो आकाश का आधेय होने के कारण भी और आकाश का कार्य होने के कारण भी और आकाश में कल्पित होने के कारण भी घड़ा आकाश को छोटा बनाने वाला नहीं है इसी प्रकार ये जो शरीर है हृदय है ये घड़े की तरह है ये घटित कर्म जातना से घटित घटित माने गढ़ा हुआ घट माने जो घड़ा गढ़ा हुआ है वो हाँ। घट माने और घट चेष्टाया जो चेष्टा करके बना दिया गया तो ऐसा जो हृदय है वासनाओं के द्वारा गढ़ा हुआ वो है अंगूठे के बराबर तो उसके भीतर जो चैतन्य है वो भी अंगूठे के बराबर ही मालूम पड़ता है और वो चैतन्य है और वो अपना आपा है तो जरा घड़े का विवेक करो तो चैतन्य में तो देश काल वस्तु तीनों ही आधेय हैं माने संपूर्ण विश्व में जो लंबाई चौड़ाई की कल्पना होती है या अनादि नित्य की कल्पना होती है या किसी भी पृथ्वी जल अग्नि की कल्पना होती है ये जितना भी देश काल वस्तु है वो कल्पना के द्वारा ही मालूम पड़ता है कृत है तो वो अपने आधार को खंड खंड नहीं कर सकता वो अपने प्रकाशक को खंड खंड नहीं कर सकता और वो अपने कारण को खंड खंड नहीं कर सकता तो ये जो हृदय की दीवार है ये चैतन्य को टुकड़ा टुकड़ा करने में समर्थ नहीं है इसलिए शरीर की उपाधि स्वाद शरीरा ये जो आत्मीय बना बैठा है अपना बना बैठा है उस शरीर उस सड़ने वाली चीज से आत्मा को अलग कर लो तो हृदय के परिमाण से इसका परिमाण है अंगूठे के बराबर और पुरुष होने से ये इसी हृदय में शयन करता है पुरुषत्वाद पूर्णत्वाद पुरुष और अंतरात्मा अपना आता है और ये सबके हृदय में है जैसे हजार घरों में आकाश है घड़े अलग अलग दिखाई पड़ते हैं परंतु आकाश एक ही है इसी प्रकार ये शरीर के घड़े हृदय के घड़े अलग अलग दिखाई पड़ते हैं लेकिन इनमें चिदाकाश एक ही है विवेक करने की जरूरत है विवेक और विवेक में धैर्य चाहिए तो विवेक इस तम स्वाप शरीरात प्रवृहेक में पृथक ऊर्जा इससे श्रवण मनन निधि ध्यान अंतरंग साधन इसमें विवक्षित है और धैर्य में समाधि जो बहिरंग साधन है वो सबके सब विवक्षित है जो हृदय को शुद्ध करे तो बहिरंग साधन हाँ और जो लक्ष्य का ज्ञान करावे सो अंतरंग साधन हाँ माने जो बंदूक की नली साफ करने के लिए हो सो बहिरंग साधन और जो बिल्कुल निशाने को लक्ष्य पर जोर देता हो है ना वो नेत्र ज्योति का <clears throat> जो बंदूक के नोक को और लक्ष्य के सामने कर देना है ये अंतरंग साधन है तो लक्ष्य को जो लखा लखावे तो श्रवण मनन निधिध्यासन वस्तु के स्वरूप का ज्ञान वस्तु के स्वरूप का विचार है ना वो लक्ष्य को दिखाता है और ये जो समसमाधि साधन संपत्ति है ये बंदूक की नली माने हृदय में से दूसरी जो चीजें हैं है ना वो नहीं वो नहीं वो नहीं चिड़िया कौन सी है ना हजार पत्ते पेड़ पर दिख रहे हैं किस पर गोली मारनी है तो वो दाहिने वाला नहीं वो बाएं वाला नहीं वो लंबा नहीं वो चौड़ा नहीं औरों को और पत्तों पर से दृष्टि हटा पाना है ना हाँ। और नारायण जो लक्ष्य है उस पर दृष्टि को जमाना तो दृष्टि को साफ करना ये बहिरंग साधन है बंदूक की नली को साफ करना ये बहिरंग साधन है हाँ, तो बोले फिर ये बाहर के जो धर्मानुष्ठान है और उपासना है और प्राणायामादि रूप योगाभ्यास है ये कौन है ये बहिरंग है कि अंतरंग है बोले नहीं ये बहिरंग है ना अंतरंग है आ, हाँ, दो टूक गोली गोली तो साफ ही मारना चाहिए ना ये परंपरा साधन है ये वेदांत की भाषा में धर्मानुष्ठान उपासनानुष्ठान योगानुष्ठान ये परंपरा साधन है इससे क्या होता है कि समदनादि रूप संपत्ति वैराग्य विवेक आदि संपत्ति जो अंतकरण को शुद्ध करने वाले हैं वे बहिरंग साधन आते हैं अंतकरण की शुद्धि सब कुछ नहीं है और लक्ष्य का जो बोध है वो अंतरंग साधन है बोला लक्ष्य का जो बोध है श्रवण मन निधिध्यासन और जो तत्वमस्य महाभाग के जन्य मूला विद्या को निवृत्त करने वाली मूला विद्या को मिथ्या बताने वाली मूला विद्या नाम की कोई चीज न कभी है है ना न हुई न होगी मूला विद्या नाम की कोई वस्तु ही नहीं हाँ, तत्व का साक्षात्कार करवा करके मूला विद्या को बाधित करने वाली जो वृत्ति है ना उसको साक्षात वृत्ति बोलते हैं वो साक्षात तो मई वृत्ति ये तो सब समस्या विवाह के जन्य है और पदार्थ शोधनी वृत्ति ये अंतरंग साधन है है ना और करण शोधनी वृत्ति ये बहिरंग साधन है और इसमें जो उपकारी है वो परंपरा साधन है <coughs> क्रिया तो उपकारी है हृदय के निर्माण में अच्छा काम किया चित्त प्रसन्न हो गया निर्मल हो गया है ना और निर्मल चित्त में सुख प्रतिबिंबित होता है तो अच्छा काम करना चित्त को प्रसन्न करने के लिए निर्मल बनाने के लिए आवश्यक है अच्छे काम का फल है चित्त का निर्मल होना और निर्मल चित्त में हाँ, परमात्मा कैसा है ये ज्ञान होने की योग्यता आती है अच्छा गोविंद तो तम विद्या शुक्रमृताम तम अंगुष्ठ मात्र पुरुषाम अंतरात्मान एवं शुक्रम अमृतम विद्या हाँ ये क्यों हो गया वो जो अंगूठे भर का हृदय में बैठा हुआ जो घड़े के परिमाण के बराबर जो घटाकाश है तम विद्या शुक्रम अमृताम उस घटाकाश को ही महाकाश समझो उस हृदय में विद्यमान जो चेतन है ना और उसको चिदाकाश हाँ। ब्रह्माकाश समझो उसको ब्रह्माकाश और ये जीवाकाश नहीं है ये ब्रह्माकाश है तो तम विद्या शुक्रम अमृता शुक्रम माने वही तो शून्यम शुद्धा हाँ। ये कैसा है इसमें द्वैत नहीं है हाँ। न माया न माया का कारण और अमृता इसमें मृत्यु नहीं है माने इसमें मृत्यु जड़ और दुख तीन चीज इसमें नहीं है अमृतम कहने का अभिप्राय ये इसमें दुख नहीं है जड़ता नहीं है और मृत्यु नहीं है माने इसमें आनंद के विपरीत दुख नहीं है इसमें चिदभाव के विपरीत जड़ नहीं है और इसमें सद्भाव के विपरीत असत मृत्यु मृत्यु नहीं है ऐसा ही है तम विद्या शुक्रमामृताम तम विद्या शुक्रमामृताम वेदांत का जो जोर है वो विद्या पर ज्यादा है वो वो विदित्वा अति मृत्यु में थे उपनिषद के अंत में ये बात दोहरा दी गई है ना ये समाप्ति का सूचक है उपनिषद की समाप्ति का सूचक है दोहराना अब एक विद्या वाली बात जो है उसको थोड़ा और सुनाते हैं क्योंकि मृत्यु प्रय प्रोक्ता नचिकेतो लब्धवा विद्या मेताम योग विधि कृष्णम ब्रह्म प्राप्त विरजो भूत विमृत्यु अन्योप्यवाम यो विद अध्यात्ममेव नारायण ये एक विद्या है जिसके वक्ता हैं स्वयं मृत्युदेव हुआ कि जो मृत्यु का भी तिरस्कार करके और ब्रह्म को जानना चाहता है मरने की परवाह छोड़ करके क्या होगा है ना इन शरीर इंद्रिय मन आदि के रहते हुए जिन भोगों को प्राप्त किया जाता है जिन बुद्धियों को प्राप्त किया जाता है जो जीवन प्राप्त किया जाता है उससे निरपेक्ष हो करके जो सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसको ये विद्या प्राप्त होती है और जो शरीर को ही दीर्घायु करने में और स्वस्थ सुंदर बनाने में लगा हुआ है इसी के लिए भोग प्राप्त करने में लगा हुआ है इसी को मैं मानने में लगा हुआ है उसको इस विद्या की प्राप्ति नहीं होती इसलिए इसको बोलते हैं मृत्यु के सामने जाकर जब खड़े हो जाओगे तब मृत्यु इस विद्या का उपदेश करेगी जब तक की ओर से बीत फेर लोगे है ना मरने की कोई परवाह नहीं महाप्रलय महाप्रलय महाप्रलय और देखो साहब वहाँ से अरे मैं तो हूँ महाप्रलय तो हो गया परंतु मैं हूँ ऐसा दिखेगा लंबाई चौड़ाई तो नहीं मालूम पड़ती परंतु मैं हूँ उम्र तो नहीं मालूम पड़ती परंतु मैं तो हूँ दूसरा कोई तो नहीं मालूम पड़ता परंतु मैं तो हूँ हाँ, ये अमृत विद्या हो अमृत विद्या तुम ही अमृत हो हाँ। अमृत के भंडार तुम हो अमृत रस तुम हो तो ये विद्या है एक बात ये बताना कि ये विद्या है ये आपको सुनाते हैं बात थोड़ी लंबी है लेकिन आप ध्यान में अगर इसको कर लोगे तो पुराने शास्त्र की बात समझने में आपको है ना मजा आवेगा और बोझ कोई पैदा नहीं होगा हाँ। एक ज्ञान एक बोझिल ज्ञान होता है वो बोझिल ज्ञान होता है और ये हमारे जो सनातन शास्त्र का ज्ञान है ये बोझिल ज्ञान नहीं है ये बोझ उतार के फेंक देने का ज्ञान है तो कहो तो हम थोड़ा शुरू से सुनाते हैं हम वेदांत की दृष्टि से जब धर्म पर विचार करते हैं तो धर्म का मतलब तो यही होता है ना कि कुछ करो देखो मनुष्य की वृत्ति कैसी होती है हमने इस मनुष्य की वृत्ति देखी है ना आज देखी आज ही देखी एक ने हमसे आगे कहा कि आज माधव जी नहीं जाएंगे सत्संग में जुकाम हो गया है तो देव स्वरूप जी मोटर में जाएंगे एक बात बात है अच्छा अब हम तो कोई बात सोच रहे थे हमारे दिमाग में कोई बात उस समय घूम रही थी तो मैंने ध्यान दिया हाँ, मैंने है ना मेरे मन में क्या बात आई अच्छा माधव जी नहीं जाएंगे ये भी ठीक है देव स्वरूप जी जाएंगे ये भी ठीक है है ना इसमें मुझे क्या करना है है ना देव स्वरूप जी जाएंगे मोटर पर बैठ जाएंगे चले जाएंगे हमारे तो कुछ करने का कुछ सोचने का है ही नहीं है तो आ, हमारे पास ये बात क्यों आई है ना जब हमारे करने का ही उसमें कुछ नहीं है ये देखो मनुष्य के वृत्ति है आपको साथ है तो मनुष्य की वृत्ति ये है कि यदि हमारे करने लायक कोई चीज होवे तब वो ज्ञान होवे माने जहाँ कर्तव्य की विधि होवे हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिसमें कुछ कर्तव्य अपना निकलता हो या कुछ त्यक्तव्य निकलता हो या कुछ प्राप्तव्य निकलता हो या किसी अज्ञात पदार्थ का ज्ञान होता हो चार बात होनी चाहिए हमको वो बात जाननी चाहिए जिसको जान करके हम कुछ छोड़ें कुछ पकड़ें है ना कुछ छोड़ें कुछ पकड़ें कुछ नई बात का ज्ञान होवे है ना और कुछ करें हमारी ही जानकारी में चार बात होनी चाहिए हम जाने तो कुछ नई चीज जाने और जान के कुछ करें जानने से कुछ मिले या जान के कुछ छोड़े तब तो हमको ज्ञान होना चाहिए अब ये ज्ञान की सफलता के बारे में ये मनुष्योचित विचार है वो मानव भूमिका का मानव भूमिका का विचार है भूमिका अलग अलग होती है अच्छा हाँ, मोटा विचार है शास्त्र में जो धर्म का उपदेश किया हुआ है वेदांत की दृष्टि से असल में वो कर्तव्य का उपदेश नहीं है धर्म भी कर्तव्य नहीं है तो वो क्या है कि देखो मानव रूप में तुम सहज रूप से अहिंसक हो हिंसा तो जब क्रोध आता है तब करते हो ना अच्छा सहज भाव में तुम निष्काम हो जब कामादेश आता है कामादेश आता है तब व्यभिचार अनाचार में प्रवृत्त होते हो जब लोभ आता है तब चोरी बेईमानी में प्रवृत्त होते हो माने कुछ ऐसा संग मिल जाता है मन में कुछ ऐसे मेहमान आ जाते हैं है? हाँ, लोभ रूप मेहमान आया तो अपने साथ तुम्हें चोरी बेईमानी करने के लिए ले गया काम आया तो तुम्हें व्यविचार नाचार की और ले गया क्रोध आया तो तुम्हें हिंसा क्रोध की ओर ले गया लेकिन अगर ये नहीं होवे नहीं होवे तो तुम कैसे हो तो असल में तुम अहिंसक हो असल में तुम सत्य निष्ठ हो तो छल कपट आता है जब तो झूठ बोलते हो छल कपट की उदाधि से झूठ बोलते हो तो तुम्हारा सहज स्वभाव धर्म की दृष्टि से कैसा है है ना यदि वेदांत की दृष्टि से धर्म पर विचार करें तो तुम असल में सत्यवादी हो तुम असल में अहिंसक हो तुम असल में संतोषवान हो तुम असल में निष्काम हो ये जो मेहमानों के संग से मेहमानों के संग से जो बुराई आ गई है उस बुराई को हटाने के लिए धर्म है तुम्हें धर्म के रंग में रंगने के लिए धर्म नहीं है बल्कि तुम्हारे ऊपर जो कालिख लग गई है उसको धोने के लिए धर्म है तो धर्म बोझ नहीं है तुम देख लो कि तुम्हारे तन में तुम्हारे मन में तुम्हारे कर्म में कालिख लगी हुई है कि नहीं तुम सहज स्वभाव से रहते हो कि इन आगंतुक मेहमानों के चक्कर में पड़ करके अपने सहज स्वभाव के विपरीत काम कर रहे हो तो इन मेहमानों को भगाने के लिए जो अनपेक्षित हैं अवांछित हैं है, जो तुम्हारी सहज शांति को भंग करने वाले हैं है? उनको भगाने के लिए क्या उपाय है है ना और तो उसका नाम हुआ धर्म हम धर्म तुम्हें बाहर से नहीं देते हैं जैसे तुम्हारे सुंदर शरीर पर काली लग गई हो तो हम साबुन इसलिए दो से धो देते हैं कि उस कालिक को धो दो है ना हम तुम्हारे सहज स्वरूप के प्रकटीकरण के लिए दोषापनयन रूप संस्कार के लिए ही है ना साबुन लगाने के लिए सिर्फ जो आगंतुक रुक्षता है उसको दूर करने के लिए स्प्रे देते हैं हाँ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है अच्छा अब एक दूसरी बात देखो माने धर्म भी असल में तुम्हारे सहज स्वरूप के बोध का ही एक अंग है अहिंसा कर्तव्य नहीं है तुम अहिंसक हो सत्य कर्तव्य नहीं है तुम सत्यनिष्ठ हो संतोष कर्तव्य नहीं है तुम संतोषी हो ब्रह्मचर्य कर्तव्य नहीं है तुम ब्रह्मचर्यवान हो ये गुंडों का संग होने से है ना मवालियों का संग होने से ये दोष अपने अंदर आए हैं तो धर्म माने इनके संग से बचो तुम जैसे हो वैसे रहो हाँ धर्म का ज्ञान बोझिल नहीं है हाँ। आगंतुक आगंतुक अधर्म का निवारण करके तुम्हें सहज धर्म में जो कि तुम्हारा स्वभाव है उसमें प्रतिष्ठित करने के लिए है मैंने विधान नहीं करते हैं इसका मतलब हुआ विधान नहीं करते हैं केवल अपवाद ही करते हैं धर्म के द्वारा भी अब दूसरी बात आप देखो आपको ईश्वर चाहिए हम व्याख्यान देंगे कि यदि इस जीवन में तुम ईश्वर को नहीं चाहोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ जाएगा परंतु ये सर्वशास्त्र निष्पन्न सिद्धांत है हाँ। सर्वराधांत का ये निचोड़ है निष्कर्ष है कि इच्छा जो है वो कर्तव्य नहीं होती ये कर्ता के अधीन नहीं है किसी से भी कहो कि तुम ये इच्छा करो तो इच्छा विधेय नहीं होती इच्छा तो उठती है अपने आप उठती है अगले मिनट में तुम्हारे मन में क्या इच्छा होगी तो तुम भगवान को चाहो है? ये विधान तो शास्त्र में हो ही नहीं सकता तब तो क्या है हम बोलते हैं कि चाहो हाँ। चाहने लायक तो एक भगवान है और तो कुछ चाहने लायक है ही नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं हाँ। देखो असल में असल में जीव मात्र मनुष्य मात्र हमारे उपदेश के विनयी हमारे कहे विनयी ईश्वर को चाहता है हाँ। हम तुम्हारी इच्छा का तुम्हारे स्वभाव का जब अनुवाद करते हैं हम तब तुम्हें धर्मात्मा बनाते हैं और तुम्हारी सहज स्वभाव सिद्ध इच्छा का जब हम वर्णन करते हैं तब तुम्हें हम भक्त कहते हैं तुम भक्त हो हम देखो शास्त्रार्थ के लिए आवाहन करते हैं है ना जैसा शास्त्रार्थ क्या हम ये स्थापना करते हैं कि तुम भक्त हो है ना यदि तुम अपने को ब्रह्म नहीं जानते हो और कोई भी इच्छा तुम्हारे मन में है तो तुम भक्त हो भगवान के क्योंकि जो इच्छा तुम्हारे मन में है वो असल में भगवान के लिए ही है हमेशा रहने वाला आनंद हर जगह रहने वाला आनंद हर में रहने वाला आनंद है ना अनायास सिद्ध होने वाला आनंद ज्ञान स्वरूप रहने वाला आनंद है बिना परतंत्रता का आनंद असल में तुम परमात्मा को चाहते हो तो जब हम कहते हैं कि भाई भगवान के लिए प्यास लगाओ भगवान के प्यासे हो जाओ भगवान के भूखे हो जाओ तो हम तुम्हारे ऊपर कोई प्यास भूख का बोझ नहीं रखते तो कहने से कि भूख लगाओ कोई किसी को भूख लगती है कि कहने से प्यास लगाओ किसी को प्यास लगती है तो तो असल में जिस वस्तु की प्यास तुम्हारे हृदय में भूख जिस जिस वस्तु की भूख तुम्हारे हृदय में उसका हम अनुवाद करते हैं केवल समझाते हैं तुम्हारे अंदर प्यास जो है वो सर्वदा और सर्वदेश और सर्व वस्तु और बिना स्वतंत्रता और बिना प्रयास है ना अनंत वस्तु की प्यास तुम्हारे अंदर है तुम छोटी छोटी वस्तुओं के प्यास की भ्रांति से कि हमें औरत चाहिए हमको पैसा चाहिए हमको बेटा चाहिए हमको मकान चाहिए ये तुम्हारी भूल है असल में तुम्हारी प्यास का स्वरूप ये नहीं है हम ये नहीं कहते कि तुम ईश्वर के लिए प्यासे हो जाओ हम कहते हैं जो तुम्हारे हृदय में ये जो प्यास मालूम पड़ती है, है ये जो तुम्हारे हृदय में प्यास जीवन में मालूम पड़ती है ये प्यास और किसी की नहीं है ईश्वर की है और बिन देखे रघुवीर पद ये की जरन ही न जाए जब तक तुम इस बात को नहीं समझोगे हाँ प्यास है किसी की और पी रहे हो कुछ है ना हाँ। पानी की प्यास दूध पीने से नहीं मिटती है भले ही दूध महत्वपूर्ण वस्तु है लेकिन पानी की प्यास दूध पीने से नहीं मिटती है तो तुम्हारे मन में प्यास तो है अनंत की है और तुम पी रहे हो है ना छोटी छोटी छोटी छोटी चीजें हैं तो क्या इससे प्यास तुम्हारी मिट जाएगी हाँ। तो हम तुम्हारे स्वतः सिद्ध धर्मात्मा स्वरूप का वर्णन करते हैं तुम ईश्वर के भक्त हो ये जो तुम्हारे हृदय में प्यास है हाँ तो शास्त्रार्थ का आह्वान क्या है तो तुम विचार करो कि किस कारण से तुम अपने को भक्त नहीं मानते हो है ना यदि तुम्हें अपने मन में ही ये बात मालूम पड़े कि इस वजह से हम भगवान के भक्त नहीं हैं तो हम समझा देंगे तुमको कि ये जो तुमने कारण की कल्पना की है कि हमारे अंदर तो ये ये है है ना तो हम भगवान के भक्त नहीं तो बोले नहीं हम समझा देंगे कि ये ये रहने पर भी भगवान की भक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ती प्यास तुम्हारे मन में भगवान की है और तुम असल में भगवान को ही चाह रहे हो वो तुम्हें नचा रहा है वो तुमसे छिप रहा है हैं वो तुम्हें भूल भुलैया में डाल रहा है है ना उसको तुम विस्मरण कर रहे हो है ना हम समझो एक सेवक है वो अपने मालिक के लिए बाजार की ओर जा रहा है काहे को काहे के लिए है ना का उसके लिए दूध लेने के लिए बाजार में जा रहा है अब रास्ते में चलते चलते भूल गया रास्ते भर उसको याद नहीं रास्ता चलता रहा रास्ते पर याद नहीं रहा कि हम दूध के लिए जा रहे हैं पर दुकान पर गया तो दूध खरीद के ले आया विस्मरण से स्वामी की सेवा में बाधा कहाँ पड़ी विस्मरण से स्वामी की भक्ति में बाधा कहाँ पड़ी क्या हम रोटी बनाते हैं किसी के लिए तो दिन भर याद रखते हैं कि हम किसके लिए रोटी बना रहे हैं अरे रोटी बनाने में तो हजार आदमी की याद कर लेते हैं हजार आदमी की याद कर लेते हैं हम आपको ये बात समझाना चाहते हैं कि भक्ति आपका स्वभाव है ये जो आपके मन में अभिमान आ गया है कि मैं स्वतंत्र हूँ है ना आपका व्यक्तित्व बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है है ना ये अभिमान है अंतर्यामी के हाथों आपका व्यक्तित्व खेल रहा है आप उसके नचाए नाच रहे हो गवाए गा रहे हो सुलाए सो रहे हो जगाए जाग जाग रहे हो ये वेदांत के विरोधी नहीं है हो है ना ये जो तुम्हारे कर्तृत्व और भोक्तृत्व में स्वतंत्रता मालूम पड़ती है ये बिल्कुल झूठी है तो माने हम भक्ति के संबंध में एक यथार्थता का ज्ञान देते हैं आपकी प्यास का स्वरूप बताते हैं आपके पानी का स्वरूप बताते हैं आपका स्वरूप बताते हैं आप जैसे हैं वैसा बताते हैं है ना लेकिन आपकी तो आदत ऐसी पड़ी है कि हमको जो कुछ बताया जाए वो करने के लिए बताया जाए बोले महाराज आपने थ्योरी तो बहुत सुनाई अब ये बताओ कि हम जब ध्यान करने बैठे हैं तो हमारा सिर आगे की ओर झुका हुआ हो कि सीधा हो है ना आप तो यही प्रश्न करोगे ना नारायण का आप ये ज्ञान जो है ये यथार्थ के ज्ञापन के लिए होता है ये बात के प्रमाण की बात लोगों को मालूम नहीं है वचनम ज्ञापकाम न तो कारकाम वचन से जो बात कही जाती है वो समझ बढ़ाने के लिए कही जाती है और समझ आने पर आप समझ लो कि कोई वस्तु अच्छी है उसके लिए इच्छा हो जाए आपके मन में है ना अगर हम यही समझावे कि जिस वो चीज बहुत अच्छी है है ना एक एक बुढ़िया आके लड़की को समझा दे कि एक लड़का है वो बड़ा सुंदर है बड़ा स्वस्थ है वो तुमसे बहुत प्रेम करता है और लड़की के मन में उसको पाने की इच्छा हो जाए है ना लेकिन बुढ़िया ने है ना बुढ़िया ने तुमको उस लड़के के पास जाने की प्रेरणा नहीं दी इच्छा उत्पन्न नहीं की उसने तो केवल उसका गुणगान किया और गुणगान सुन के तुम्हारे मन में इच्छा स्वयं उत्पन्न हो गई स्वयं उत्पन्न हो गई इच्छा गुणगान से उत्पन्न हुई तो काम करवाना या इच्छा करवाना ये ज्ञान का काम नहीं है अब अन्य वस्तु का गुणगान सुनोगे तो उसको पाने की इच्छा होगी तो तुम्हारे मन में भक्ति होगी और अन्य किसी वस्तु का गुणगान सुनोगे और उसको पाने के लिए कर्म करने की जरूरत होगी तो तुम कर्म करोगे है ना लेकिन हमारे वेदांत शास्त्र का अभिप्राय ऐसा बिल्कुल नहीं है तुम भक्त हो व्यक्तिगत रूप से इसलिए वेदांत तुमको भक्त बताता है तुम धर्मात्मा हो स्वभाव से इसलिए वेदांत तुमको धर्मात्मा बताता है कि तुम स्वभाव से ब्रह्म हो कि इसलिए वेदांत तुमको ब्रह्म बताता है ब्रह्म यथार्थ विद्या जो होती है वो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बताने वाली होती है देखो जब किसी चीज को पाने के लिए तुम रो पड़ते हो है ना उस समय वेदांत कहता है कि जिसको पाने के लिए तुम रो रहे हो वो तो तुम खुद ही हो है ना क्यों अपने को न जान करके तुम दूसरे को पाने के लिए रो रहे हो है ना विषय भोग पाने के लिए रो रहे हो स्वर्ग पाने के लिए रो रहे हो है ना ब्रह्मलोक पाने के लिए रो रो रहे, रो रहे हो का ईश्वर को तुम अपने दिल से कहीं बाहर समझ करके रो रहे हो हैं? अपने से जो बाहर ईश्वर होगा वो कितना अधूरा होगा ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती तो जो ईश्वर तुम्हारे दिल से बाहर होगा उसके तो उतना अंग उसका कटा होगा जितनी दूर में तुम्हारा दिल है उतनी दूर में व्रण हो जाएगा है ना व्रण होगा तभी तो तुम्हें ईश्वर प्राप्त हो रहा है कि तुम्हारा मैं ईश्वर से कट के अलग हो गया है हे भगवान ईश्वर तुम्हारे मैं से कट के अलग हो गया है तो ये विद्या जो होती है विद्या माने ज्ञान होता है और वो क्या था ये बताने के लिए नहीं होती है भला हाँ, वो इतिहास विद्या होती है और क्या होगा ये बताने के लिए विद्या नहीं हो तो ज्योतिष विद्या होती है बोला क्या होगा क्या होगा ये बताने के लिए तो ज्योतिषी को पैसा देना पड़ेगा और क्या था ये सीखने के लिए ऐतिहासिक मतलब वेदांत विद्या का ये स्वरूप नहीं है हाँ। यथार्थ वस्तु क्या है जो भूत में भी वही थी भविष्य में भी वही रहेगी और वो क्या चीज है कब वो है वर्तमान में तुम्हारा आत्मस्वरूप है न इसलिए इसलिए इसमें चिकेत नहीं है नचिकेत है हाँ। चिकेत मान इसमें चयन नहीं है इसमें कंकड़ चुन चुन महल बनाया नहीं है इसमें अग्निस्थापन नहीं है इसमें समिधाधान है ना समिधाधान इसमें नहीं है संविधा समिधा लकड़ी इधर उधर से इकट्ठा करना नहीं है का इसमें अग्नि प्रज्वलित करना नहीं है वेदी बनाना नहीं है कुछ कंडिका करना नहीं है इसमें ब्राह्मण बुलाना नहीं है का ये तो विद्या है विद्या सचमुच तुम ब्रह्म हो अगर तुम्हें इसमें कोई आपत्ति हो तो जो अड़चन मालूम पड़ती हो है ना वो गुरुजनों से पूछ करके उस शंका का उस संशय का निवारण कर लो है ना तुम्हारी बुद्धि में जो दोष है ये समझने में उस दोष का निवारण करने के लिए शिक्षा प्राप्त करो विद्या प्राप्त करो तो तुम दरअसल भक्त हो देखो अगर ये बात समझ में नहीं आती तो हम क्रम से कहो तो इसका क्रम ही सुना रहे हैं हाँ वेदांत का तो ये कहना मैंने धर्म का तो ये कहना है कि तुम्हारे कर्म में जो दोष आ गए हैं वो अस्वाभाविक हैं, आगंतुक हैं, है ना? उन दोषों के निवारण के लिए धर्मानुष्ठान करना चाहिए उपासना का ये कहना है कि ये जो तुम्हारे अंदर स्वातंत्र का अभिमान आ गया है समष्टि में ये बिल्कुल व्यर्थ है ईश्वर का स्मरण करके अपने स्वातंत्र का अभिमान दूर करना चाहिए योगाभ्यास का कहना है कि ये सब तुम्हारा विक्षेप है चित्त को एकाग्र कर लो है चित्त को एकाग्र कर लो न कुछ करना है और न कुछ भावना करना है सोचना है निरुद्ध कर लो चित्त तुम दृष्टा हो है ना ये सब तो जड़ में है कर्म भी जड़ में है और कर्म वासना भी जड़ में है और आना जाना भी जड़ में है स्वर्ग नरक भी जड़ में है और ब्रह्मलोक हाँ, ब्रह्मलोक और मर्तलोक भी जड़ में है ये सब जड़ में है चित्त की विक्षिप्त के कारण चित्त की विक्षेप के कारण ये तुमको ये तुमको अलग मालूम पड़ता है ये तुम तुम्हारे अंदर मालूम पड़ता है तुम अपने को अलग कर लो सांख कहता है कि नहीं नहीं इसमें चित्त की चंचलता भी हेतु नहीं है केवल अभिवेक ही हेतु है चित्त चाहे चंचल हो चाहे समाहित समाहित हो तुम तो विवेक करके देख लो तुम चंचल और समाहित दोनों प्रकार के दृश्य के दृष्टा हो और ये धर्म अधर्म ये राग द्वेष ये स्वर्ग नरक ये सुख दुख ये सब के साथ जड़ दृश्य में हैं जड़ दृश्य में तुम्हारे साथ इनका कोई संबंध नहीं है जिसने जिसने अपने को दृष्टा अनुभव किया विवेक कर लिया वो वो मुक्त हो गया जिसने नहीं किया वो बद्ध है <clears throat> और ये सब धारा जो है वो चलती रहती है सृष्टि में चलती रहने दो वेदांत कहता है कि जिसको तुम जड़ की धारा बोलते हो वो कहाँ है किस देश में है बाहर है कि भीतर पहले है कि पीछे स्व है कि अन्य है ना अपने अखंड स्वरूप में ये जड़ नाम की कोई वस्तु दृश्य नाम की कोई वस्तु है ही नहीं न कोई दुख है न कोई जड़ है और न कोई मृत्यु है तो अद्वितीय आत्मबोध अद्वितीय ब्रह्मात्मबोध ये वेदांत ये वेदांत सुनाता है हाँ, तो ये वेदांत कुछ करने को नहीं बताता वो तो कहता है कि तुम्हारा स्वरूप ही ऐसा है और मैंने ये सुनाया कि कर्म के कारण जो आगंतुक है उसको धर्म मिटाता है और और वासना के कारण जो आगंतुक है उसको भक्ति मिटाती है और विक्षेप के कारण जो आगंतुक है उसको योग मिटाता है अविवेक के कारण जो आगंतुक है उसको सांख्य मिटाता है है ना और अज्ञान के कारण जो आगंतुक है द्वैत मात्र है ना उसको तत्व ज्ञान मिटाता है उसको तत्व ज्ञान मिटाता है और इसमें क्रम की अपेक्षा नहीं है कि इसी क्रम से कोई तत्व ज्ञान प्राप्त करे ये जरूरी नहीं है अगर किसी को शुरू शुरू में ही तत्व ज्ञान हो जाए तो वो तो एक एक ही जब मिल गया मूल की उपलब्धि हो गई तो शाखा शाखा की उपलब्धि अपने आप ही हो गई इसलिए यदि तत्व ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो कुछ भी प्राप्त शेष नहीं रहता पर यदि ये अपने हम ये करेंगे तो ये मिलेगा दिन भर यही देखते हैं ना दुकान करते हैं तो पैसा मिलता है चलते हैं तो घर पहुंचते हैं चलते हैं तो घर पहुंचते हैं दुकान करते हैं तो पैसा मिलता है है ना स्त्री पुरुष का सहवास होता है तो बच्चा होता है नारायण है बोलते हैं तब सुनाई पड़ता है तो जब ये देखते हैं कि कुछ करने से ही दुनिया में कुछ होता है, है तो ये वासना ऐसी ही अध्यास ये वासना इतना प्रबल हो गया है कि हम समझते हैं कि कुछ करेंगे तब परमात्मा मिलेगा ये असल में ये असल में वास नहीं है ना ये अभ्यास ही ये अभ्यास ही है ना ये आदत ही पड़ गई है अपने मन को कि हम समझते हैं कि कुछ करेंगे सब कुछ मिलेगा आंख खोलेंगे तब रूप दिखता है कैसी प्रकार बुद्धि को जब खोलेंगे तब परमात्मा मिलेगा अरे बुद्धि के खुलने से जो परमात्मा मिलता है सो नहीं जो बंद बुद्धि को देख रहा है तो परमात्मा है बंद बुद्धि जिसमें है वो परमात्मा है तुम जैसे हो जो हो जहाँ हो जब हो है ना उसी रूप में उसी रूप में परमात्मा हो हाँ। पर बोले भाई बात तो नहीं बैठती तो नहीं बैठती तो आओ तुमको थोड़े दिन तक लगावे हो ये कालक्षेप के लिए जोग विधिम चकृत स्नाम विधिम चकृत स्नाम थोड़े आसन बांधो प्राणायाम करो प्रत्याहार करो इंद्रियों को शांत करो मन को शांत करो है ना संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि लगाओ है ना ईश्वर की प्रार्थना करो हाँ आविर्भव ए ही ए ही भव आओ आओ प्रभु प्रकट हो जाओ पुकारो है ना आविर मे भी आओ आओ हमारे सामने प्रकट हो जाओ तो प्रतीक्षा में जो समय बीतेगा ना और प्रार्थना में जो समय बीतेगा प्रार्थना और प्रतीक्षा में जो समय बीतेगा इतनी देर में नारायण शायद वो बुद्धि प्राप्त हो जाए वो बुद्धि प्राप्त हो जाए जिसमें अप्राप्त कुछ नहीं रहता तो योग विधि भी यदा पंचावतिष्ठंत ज्ञानी मनसा का ये बात बताई ना और भी कई जगह ये प्रसंग आया तो ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत विमृत्यु अन्योप्येवम जो विदध्यात्मेव नचिकेता को क्या हुआ पहले अभाव करके साप का अभाव करके मृत्यु के सामने उपस्थित हुआ नचिकेता चिकेता नहीं है वो चयन करने वाला नहीं है अग्नि चयन करने वाला नहीं धर्म का चयन करने वाला नहीं उसको बिना अग्नि चयन के ही अग्नि चयन का फल मिल गया तो ब्रह्म प्राप्त बीरजो भूत विमृत्यु हो उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है ब्रह्म की प्राप्ति क्या होती है प्राप्ति माने प्राप्ति का ज्ञान ही होता है जो अपने से अन्य है वो कभी प्राप्त हो नहीं सकता प्राप्त भी होगा तो चला जाएगा जो अपने से अन्य है वो प्राप्त हो भी तो चला जाए और वो कभी प्राप्त हो नहीं सकता और जो अपना स्वरूप है वो नित्य प्राप्त है है ना ये क्या प्राप्त होगा तो ब्रह्म प्राप्ति का अर्थ क्या होता है कि नित्य प्राप्त में ही जो अप्राप्ति का भ्रम हो गया था वो निवृत्त हो गया विरजोभूत विरजोभूत का क्या अर्थ हुआ कि जो ये समझता था कि धर्म के अनुसार स्वर्ग में ब्रह्मलोक में वैकुंठ में है ना बहिरंग धर्म से लोक परलोक की उन्नति होती है और अंतरंग धर्म से ब्रह्मलोक है ना ज्ञान ज्ञान मिश्र ज्ञान मिश्र अंतरंग धर्म हो तो ब्रह्मलोक है ना और भक्ति मिश्र अंतरंग धर्म हो तो वैकुंठ है ना भक्ति मिश्रित अंतरंग धर्म हो तो वैकुंठ और जहाँ धर्म दोनों निरुद्ध हो जाए वहाँ समाधि योगा योग हाँ। और जहाँ दोनों बाधित हो जाए धर्माधर्म धर्माधर्म का कर्ता धर्माधर्म क्रिया धर्माधर्म वृत्ति धर्माधर्म फल स्वर्ग नरक सुख दुख दोनों जहाँ बाधित हो जाए वहाँ बिरजोभूत ये रजस यही है रज यही है कि कण कण कण कण कण अपने अंदर लग गया धूल पड़ गई है ना चलते फिरते धूल पड़ती है ना अपने ऊपर है ना इसी प्रकार ये दुनिया में महाराज ये धर्म की धूल पड़ी या धर्म की धूल पड़ी है ना देखो गोपी चंदन की मिट्टी अपने सिर में पोता है बोले चंदन लगा लिया तो, है ना आखिर तो मृतिका ही है ना वो बोले धर्म मृतिका वो धर्म मृतिका हुई है ना और कब बोले महाराज देखो क्या कहीं धरती की मिट्टी कहीं नाबदान के पास की मिट्टी सका के पास की मिट्टी लग गई बोले गंदा हो गए है केसर अपने हाथ से पीस के शरीर में पोतते हैं आखिर तो मिट्टी है कि नहीं है ना गंधवत तो उसमें ज्यो करते हुई है है ना मले आगिर शरीर पर पोतते हैं कहा हम सुगंधित हो गए तो ये धर्म है ये धर्म मृत्यु का है मले आगिरी मले आगिरी धर्म मृत्यु का है परंतु आप जानते हैं ईश्वर का क्या है वो मलयागिरी ईश्वर का क्या है आपको मालूम है, है? हाँ, और ऋषभदेव का क्या है आपको मालूम है हाँ, तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि वही जो एक दृष्टि से बहुत उत्तम होता है वो उत्तम दृष्टि से हीन हो जाता है तो लगाते हैं शरीर में माटी बोलते हैं चंदन वो बोले जो शरीर को शरीर के रूप में जानता है उसके लिए न केसर की जरूरत है है ना न केसर की जरूरत है अरे मेकअप तो वो लोग करते हैं ना हो जिनके शरीर में कोई खराबी होती है है ना नहीं तो मेकअप करने की क्या जरूरत है जो स्वयं शुद्ध बुद्ध मुक्त है है ना उसको अपने को बढ़िया बनाने के लिए कर्म करने की कि उपासना करने की कि योग करने की क्या जरूरत है जो स्वयं शुद्ध बुद्ध मुक्त है तो बिरजो भूत माने रजत को लगा करके जो राग लगा करके रंग लगा करके पाउडर लगा करके जो हम अपने को सुंदर बनाते हैं विरजो हाँ, वो दो तो दिया सारा पाउडर बैंक से हम जैसे हैं वैसे ही बहुत सुंदर हैं ये मधिक मनोज्ञा बलकले नापी तन्वी किमी वही मधुराणाम मंडनम न आकृति नाम है तो जिनकी आकृति स्वयं मधुर है उनको आभूषण की जरूरत नहीं पड़ती है ना बलकल पहने हुई पहाड़ी लड़की जंगली लड़की क्या परम सुंदर परम सुंदर नहीं मालूम पड़ती तो तुम्हारे स्वरूप का जो सौंदर्य है उसको न जान करके रंग पोतते फिर रहे हो धर्म का उपासना का रंग योग का रंग अपने ऊपर ये जो रंग लगाते हो इसलिए कि तुमने स्नान करके अपना स्वच्छ निर्मल स्वरूप कभी देखा नहीं इतने स्वच्छ हो कि उसमें कुछ रंग रोगन करने की जरूरत नहीं जब मकान का रंग बिगड़ जाता है तब रंग रोगन किया जाता है अरे तुम ऐसी चीज हो जिसका रंग रोगन कभी बिगड़ता ही नहीं बिरजो भूत कभी मृत्यु का सो तो सब महाराज जी के रंग रोगन तो नहीं दर, अन्यत्र धर्मास अन्यत्र धर्मास अन्यत्र धर्मास अन्यत्र चक्रता करता नचिकेता ने प्रश्न किया था कि हमको वो चीज बताओ जिसमें धर्म अधर्म नहीं लगता जो कार्य कारण नहीं होता और जो भूत भव्य नहीं होता कार्य कारण से काल का ग्रहण हुआ धर्माधर्म से क्रिया का है ना क्रिया का ग्रहण हुआ और और भूताच भव्याच से काल का ग्रहण हुआ और कृताकृता से का, कार्य कारण रूप द्रव्य का ग्रहण हुआ जो कार्य कारण रूप द्रव्य से अलग है धर्मा धर्म रूप क्रियानुष्ठान और स्वर्ग नरक से जुदा है, है? धर्माधर्म से जुदा है तो स्वर्ग नरक से भी जुदा है तो देश का संबंध नहीं है और कृता कृता कार्य कारण से जुदा है तो द्रव्य से जुदा है द्रव्य तो वही है जो कार्य कारण रूप है और अन्यत्र भूताच भव्याच्य जो भूत और भविष्य से जुदा है तो तुम अपने साथ छह बात मत जोड़ो एक तो धर्म और एक अधर्म है और एक मिट्टी और खड़े की तरह सृष्टि का कार्य कारण भाव और एक इतिहास की संस्कृति है ना हमारे बाप तो ऐसे थे हाय हाय हम नहीं हुए रो मत इसके लिए बना है और हमारा बेटा तो आगे कम्युनिस्ट हो जाएगा इसके लिए दुख मत मानो बोला हाँ। <coughs> प्रश्न वो तो जैसा समय में परिवर्तन होता है परिस्थिति के अनुसार सृष्टि जो है वो बदलती ही है और वो चैतन्य में केवल कल्पना मात्र है उसके लिए उसके लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं तो नचिकेता ने पूछा कि हमको धर्म और अधर्म से माने स्वर्ग नरक सुख दुख आदि फल से और कार्य कारण संबंध से और ऐतिहासिक और भावी है ना भूत और भावी वस्तुओं से संस्कृतियों से जो निर्मुक्त है वो बताओ बोले देखो ये तो ठीक है हम धर्माधर्म से रहे हैं आत्मा बोले ये आत्मा ही ऐसा है इसमें इन छह बात का कोई संबंध नहीं है बोले ये तो ठीक है लेकिन मौत लगी हुई है, है? बोले विमृत्यु सीताराम मृत्यु नाम की कोई चीज है प्राण वियोग रूप मृत्यु है ये कल्पना तुम्हारे जिंदा रहने से ही हो सकती है तुम्हारे बिना तो मृत्यु का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता आत्मा का एक नाम उपनिषद में मृत्यु मृत्युम हाँ, नमाम में हम उत्तर नरसिंह तापनी उपनिषद में मृत्यु मृत्यु मौत की भी जिसमें मौत हो जाती है काल भी जिसमें मर जाता है काल भी जिसमें सत्ता शून्य हो जाता है बेमृत्यु हो असल में मृत्यु शब्द का अर्थ संस्कृत में मरना होता ही नहीं मृत्यु शब्द का अर्थ क्या होता है जब हम अपने में तृप्त न रह करके दूसरे से तृप्ति लेने गए तो मर गए इसी को कामना शंकराचार्य भगवान ने देख लेना भाषण में देख लो अगर किसी के पास हो तो देख लो वो दो चीज को मृत्यु मानते हैं एक अविद्या को और एक मृत्यु को एक कामना को हम अपने को ब्रह्म नहीं जानते असल में अपने स्वरूप का अज्ञान ही मृत्यु है है ना और दूसरे कब बोले कि हमको तो दूसरी चीज चाहिए अरे ये चीज हमें नहीं है बोला हाँ। तो जब हम शब्द से स्पर्श से रूप से गंध से है ना पड़ोसी से इंद्र से ब्रह्मा से और जब वरदान लेकर के सुखी होना चाहते हैं तो हम मार जाते हैं मंगते हो जाते हैं मांगते हो जाते हैं है ना तो मांगन गया सो मर गया ने? जो मांगने गया तो मर गया जो अपने लिए अपने लिए कुछ चाहता है कब वो पूर्ण नहीं है अपूर्ण है वो कट गया पेट गया ये काम नहीं मृत्यु है और बोले अविद्या ही मृत्यु है अविद्या मृत्यु है अपने आप को न जानना अपने आप को न जानना यही मृत्यु है अज्ञान ही मृत्यु है सो नचिकेता को कोई इच्छा नहीं रह गई कोई कामना नहीं रह गई और अपने स्वरूप का अज्ञान नहीं रहा माने वो सहज सहज स्वरूप की उसको प्राप्ति हो गई तो सहज इच्छा का नाम भक्ति है वो है? और सहज जीवन का नाम धर्म है, और सहज वस्तु का नाम सहज जो आत्मा है आत्मा का नाम ही ब्रह्म है यथार्थ है अन्योपेवम जो वे अध्यात्म में वो दूसरा कोई भी नचिकेता के सिवाय दूसरा कोई श्रोता भी यदि इसी अध्यात्म को इसी शरीर में रहने वाले अपने आत्मा को एवं वेद यदि ब्रह्म जानता है तो उसको भी यही ब्रह्म प्राप्ति यही विरजस्व प्राप्ति और यही विमृत्यु विमृत्यु प्राप्ति विमृत्युत्व की अमृतत्व की प्राप्ति का उसको होगी जो कोई इसको जानेगा आओ सहना भवतु सहनऊ नक्तू महावीर्यम् करवावै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह करवा वही तेजस्विनावधीतमस्तु माविद्विषावहै शांति शांति शांति कि गीता उपनिषदों के समूह का नाम ही गीता है क्योंकि गीता ब्रह्म विद्या का ही प्रतिपादन करती है इसी में उसका तात्पर्य है और शांति नहीं बोलता है वस्तु ही बोलती है उसका नाम श्रुति है हो जहाँ वक्ता वक्तृत्वाभिमान युक्त व्यक्ति पुरुष जहाँ नहीं बोलता है जहाँ स्वयं तत्व ही बोलता है किसी प्रकार की सीमा को स्वीकार किए बिना असीम वस्तु स्वयं जो बोलती है उसका नाम श्रुति है वो बोली नहीं जाती वो सुनी जाती तत्व की वाणी का नाम श्रुति है बोला और अनुभवी वक्ता की वाणी का नाम स्मृति है उपनिषद है श्रुति और गीता है स्मृति ये वक्ता के प्राधान्य से इसका वक्ता महान है मान जिस वस्तु का वर्णन किया जा रहा है वो महान है कि बोलने वाला महान है तो श्रुति भी जहाँ मामूली विषय का वर्णन करती है वहाँ उसको प्रमाण नहीं मानते हैं हाँ। से भी सजा ठंड लगे तो उसकी दवा क्या है बोले आग तापना बोले यहाँ श्रुति का प्रामाण्य जो है वो स्वतः नहीं है ये तो परतम है दुनिया में ठंड लगने पर किसी ने आग तापी उसकी ठंड मिट गई तो लोकानुभव सिद्ध पदार्थ का वर्णन श्रुति कर रही है वहाँ कोई अज्ञात ज्ञापन नहीं कर रही है और लोकानुभव से अज्ञात पदार्थ को जहाँ श्रुति समझाती है वहाँ उसका प्रमाण्य होता है प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तु पायो न बुध्यते एनम वदंती वेदेना तस्माद वेदस्य वेदता वेद की वेदता यही है कि जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि लौकिक प्रमाणों से ज्ञात न हो उसको ज्ञात कराने वाला उपाय साधन है तो तत्व की वाणी श्रुति है माने जहाँ तत्व अपने आप ही बोल रहा है सूर्य कह रहा है कि मैं प्रकाश स्वरूप हूँ वक्ता चाहे उसको प्रकाश स्वरूप कहे चाहे न कहे देखो ये ये तत्व की वाणी है सूर्य बोल रहा है कि मैं प्रकाश स्वरूप हूँ तुम्हारी आंख देखे कि नहीं देखे तुम्हारी आंख अंधी हो तो न देखे मंदी हो तो सूर्य में अंधेरा देखे है? क्यों दिया जाए तो कुछ न दिखे तो देखने वाले की जहाँ प्रधानता नहीं होती वस्तु की प्रधानता जहाँ होती है वहाँ श्रुति प्रामाण्य होता है सूर्य बोल रहा है कि मैं प्रकाश स्वरूप हूँ तत्व बोल रहा है कि मैं अद्वय हूँ इसका नाम हुआ श्रुति और जहाँ वक्ता किसी वस्तु को अनुभव करके बोलता है अनुभव पूर्वक भाषण का नाम होता है स्मृति तो अनुभूत विषयासम प्रमोश स्मृति है अनुभूत जो विषय है उसका भूल न जाना इसका नाम स्मृति है तो ब्रह्मसूत्र में गीता को सुमर्जते च चमृत च स्मृते गीता को स्मृति बताया गया है स्मृति बताया गया है माने ये वक्ता वक्ता की प्रधानता से ये स्मृति है अनुभवी की प्रधानता से ये स्मृति है अब इसमें वक्ता जो है वो अंतकरण विशिष्ट है कि मायोपाधिक है तो ये हमारा और हमारा संप्रदाय है ये हमारी परंपरा है हाँ, वैदिक परंपरा में श्री कृष्ण को माया विशिष्ट वक्ता मानते हैं अंतकरण विशिष्ट वक्ता नहीं मानते माने वो भी अपने को तत्व रूप जानते मानते हुए ही बोलते हैं माया विशिष्ट का अभिप्राय ये हुआ कि वे भी अंतकरण की किसी विषयानुभूति का अनुवाद नहीं करते हैं इस शब्द का अनुभव ऐसे होता है स्पर्श का ऐसे होता है रूप का ऐसे होता है हृदय में जो संस्कार पड़े हुए हैं उनको नहीं उगलते हैं वो भी तत्व से